मातृ शक्ति ईश्वर की महती कृपा से आज हम वैदिक क्रियात्मक योग को जानने जनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन चरम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति है ईश्वर तक पहुंचने के लिए योग एक साधन है बिना योग के ईश्वर प्राप्ति अथवा ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता योग की सिद्धि के लिए शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना ये तीन प्रमुख आधार रहते हैं यदि ज्ञान ठीक न हो या कर्म ठीक न हो अथवा उपासना ठीक न हो तो योग की सिद्धि नहीं होती इसलिए तीनों का शुद्ध होना आवश्यक है अब जो वर्तमान काल में हम यहाँ उपस्थित हैं ये उपासना का भाग है कल जो प्रकरण उपस्थित था वो ज्ञान विज्ञान का प्रकरण है कल के सत्संग में तो हमें ज्ञान ईश्वर के विषय में आत्मा अपने विषय में और भौतिक शरीर इंद्रिया पृथ्वी आदि के विषय में तीनों के विषय में ज्ञान की प्राप्ति करें पहले उसके पश्चात शुभ कर्म परोपकार निष्काम भावना से सेवा करना उसके बदले में लौकिक फल न जाना ईश्वर प्राप्ति के लिए ही कर्म करना वो निष्काम कर्म कहलाता है और ये तीसरा जो भाग है हमारा ये उपासना का है इसमें योग दर्शन कार ने समाधि की सिद्धि के लिए आठ कर्तव्य अष्टांग योग आठ अंग आठ क्रिया उनको करने का विधान किया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम और नियम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं मन वाणी और शरीर परिवार समाज में राष्ट्र में उनका पालन होता है फिर ये जो हम बैठे आसन ये व्यायाम की दृष्टि से आसन एक व्यायाम है वो योग नहीं है और स्थिर सुखम आसनम सुखपूर्वक बिना हिले जुले ईश्वर की खोज करना जप करना समाधि लगाना ये आसन पर बैठ के करने के काम होते हैं आसन अनेक है परंतु नियम यह बनाया स्थिर सुखम आसन सुख पूर्वक बिना हिले जुले जिसमें हम बैठते हैं वो आसन है समाधि के लिए वैसे तो अनेक है आसन पर एक ये है कि इस पैर को हम चपका कर लेते हैं ये पैर इस ऊपर वाले पैर को ऊपर चपका रख लेते हैं ये स्थिति है और कमर को सीधी रखते क्या समझे हाँ आप तेजी में बैठे हो ना मुझे प्राय व्यक्ति टेढ़ा बैठता है और मानता ही है कि मैं ठीक सीधा बैठा हूं ऐसा नहीं है सीधे बैठते हैं इसकी दो स्थिति है आसन की इसको चपटा करना एक इसको भी चपटा और इसको यदि अंदर लेने इस, इस भाग को ये दूसरी स्थिति है एक इसको हम बीच के बाद में अंदर ले लेते हैं इसको भी अंदर ले लेते हैं अब भी बहुत अच्छी स्थिति है और इस आसन में हिलना जुलना नहीं होता पहले में तो कुछ हिलता जुलता है व्यक्ति अब ये इसको यहां अंदर ले लिया इसको भी अंदर ले लिया है और कमर सीधी होती है और गर्दन भी सीधी होती है तो यद्यपि पुराना अभ्यासी तो ऐसे ही बैठ लेता है पुनः पर प्राय ऐसे बैठते ही व्यक्ति ऐसे झुक जाता है ऐसे झुक जाता है आराम सा लगता है उसको ऐसे बैठता है फिर झुकते झुकते झुकते कई बार फिर नींद आ जाती है और घंटे तक सोता रहता है फिर कहता है आज मैं तीन घंटे तक बैठ ऐसे आज करने से कमर नहीं झुकती ऐसे कर ऐसे भी कर सकते कोई बात नहीं कैसे भी कर सकते कोई बात नहीं अंगुलियों की कोई ऐसी बात नहीं है भुझाओं की है ऐसे करना या ऐसे करना या ऐसे तीनों में से अंगुलियों की कोई मुख्य बात नहीं है मुख्य बात तो है भुझाओं की भुझाएं जो ऐसे रखेंगे तो कमर नहीं दुखती सीधे बैठे अब अभ्यास करते करते करते दो घंटे तक बैठा रहे कुछ कठिनाई नहीं तीन घंटे तक बैठा रहे कोई कठिनाई नहीं और आपने देखना हो मेरा आसन ठीक है या नहीं तो आप बैठ के आसन पर और शरीर को नीचे से हिलाओ कहां से इस बात देखिए ऐसे हम बैठे नीचे से हिलाओ ऊपर से नहीं नीचे से हिलाने से पता चलेगा संतुलन रीढ़ की हड्डी के कल भाग में सबसे अधिक बाहर जाएगा शरीर का संतुलन होने पर कुछ कम टकने पर आएगा उससे भी कम घुटने पर आएगा नीचे के भार का ये संतुलन है सीधा बैठेंगे तो कभी देख लेना हम सीधे जब बैठेंगे तो उसकी पहचान क्या है शरीर का अधिक भार रीर की हड्डी के तल भाग में जाएगा या रीर की हड्डी का कुछ भाग से मुड़ा हुआ वहां जाएगा ऐसे और थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो चकने का भार अधिक आ जाएगा वो रीर की हड्डी उठ जाएगी ऐसे चले गए अधिक तो धड़ाम से गिर जाएंगे आप ऐसे हो गए तो इस पर जोर पड़ेगा ऐसे होंगे तो इस पर जोर पड़ेगा संतुलित आसन होने पर किसी पर जोर नहीं पड़ता ऐसे बढ़ते अब ध्यान में प्रारंभ में सिखाते हैं देखो ईश्वर सर्वव्यापक है सचिदानंद है ईश्वर का ओम नाम मुख्य है आप अपने शरीर में एक केंद्र बनाइए स्थान जैसे आपसे कोई कहे आप अपने मन को मस्तक में लगाइए या ठहरा लीजिए उसको तो वो जो ठहराना जो उसको धारणा बोलते हैं मन मन में आप सोचेंगे मैंने अपने मन को यहां ठहरा रखा है ठहराने का नाम धारणा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा छठा छठा वो है अंग तो एक केंद्र बना लेते हैं और केंद्र बना करके बाहर के समस्त विचारों को रोक देते हैं अभ्यासी के लिए कुछ कठिन नहीं है तो एक केंद्र बनाया और उसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप करना अथवा ओम का जप करना गायत्री करना बोल कर करना और मानसिक से तीनों प्रकार से चलता है प्रारंभ में बोल बोल के करना सुविधाजनक होता है आप बाहर से मन को हटा दीजिए मन एक जड़ पदार्थ है आप चलाते हैं ये बात मन से निकाल दो कि मन स्वयं चलता है स्वयं चला जाता है विचार स्वतः आ जाते हैं इस बात को मन से निकाल दो आप यदि आप ये मानते हैं कि मन को रोकना है और ये समझते हैं कि मन जड़ पदार्थ है कार की भांति कार को हम चलाते हैं कार चलती है नहीं तो नहीं तब तो कार का अधिकार रहेगा और आप ये मानते हैं कार को चलाते जाएं और कहें कार चेतन पदार्थ है वो मानती नहीं है बाय गाय का ढोम चली जाती है क्या करो चलाते जाइए और ये मानते रहिए कार स्वतः चलती है स्वयं तो दुर्घटना निश्चित है मन को चेतन मानने पर यदि व्यक्ति प्रयास करता है चेतन मान करके ध्यान करता है तो विफल हो जाएगा इसलिए मन तार की भांति पंखे की भांति एक जड़ पदार्थ है हाथ ऊपर करना चाहता हूं ऊपर हो जाता है नीचे करना चाहता हूं नीचे ये जड़ पदार्थ हाथ जड़ पदार्थ ये ज्ञान है ज्ञानपूर्वक जो अभ्यास है वह सफल होता है अज्ञानपूर्वक अभ्यास विफल हो जाता है तो हम फिर जब आंख बंद करके बैठते हैं और केंद्र बना लेते हैं और जिस केंद्र पर हमने अपने मन को ठहराया उस स्थल पर ईश्वर विद्यमान है ऐसा जानना चाहिए बाहर भी है और उस स्थल पर भी उसके पश्चात फिर हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं अब आप बोलेंगे अर्थ याद हो तो अर्थ को मन में रखिए तूने हमें उत्पन्न किया شيئا उपासना करते समय मुख्य रूपेण तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है चुपचाप बैठने का नाम ध्यान नहीं है कुछ भी न बोलने या मन से सोचने का नाम ध्यान नहीं है ध्यान तो उस स्थिति का नाम है जिसमें वस्तु की खोज की जाती है गवेषणा की जाती है अन्य विषयों से हटा करके एक ही विषय की खोज एक व्यक्ति वैज्ञानिकों के क्षेत्र में वो किसी तारे की खोज कर रहा है किसी ने बताया होगा उसको कि ऐसा ऐसा अमुक सूर्य या तारा है और उसने उसके शोध प्रमाण के आधार पर सुना है कि इतने इतने क्षेत्र में आप देखेंगे तो मिलेगा वो खुरदबीन से या दूरबीन से जो भी साधन होते हैं वो एकाग्र चित्त होकर वो जो बताया हुआ तारा है या सूर्य है या कोई भी हो वो उसकी खोज करता है उसका साक्षात्कार करना जाता है उसका नाम ध्यान है उसके मन में उसका आकार प्रकार उसके स्वभाव सुने हुए उसके दिमाग में यदि सुना हुआ यदि गलत होगा तो ध्यान भी, यदि गलत ही हो जाएगा ये भी याद रखना ये तो दुनिया ईश्वर का ध्यान करती देखी जाती है उसने नक्षत्र तारा ही गलत बता रहे क्या तो ध्यान भी गलत है ध्यान क्या है कुछ भी नहीं वस्तु तत्व है वस्तु तो ऐसी है और अन्यथा मान की खोज की जाए तो मिलेगी कैसे अच्छा अब जो तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है गायत्री में तो तीनों का अंश आता है स्तुति भी और प्रार्थना भी तीनों अंश आ जाते हैं अब एक छोटा टुकड़ा हम लेते हैं नवीन अभ्यासी छोटे टुकड़े को संभाल लेता है छोटा शब्द लेता है देखो ये जो हम जो जप करते हैं ध्यान करते हैं ईश्वर कैसा है सत्य चेत आनंद तीन विशेषताएं सत्य नाश रहे कभी विनाश नहीं होता चित चेतन जन आनंद सुख स्वरूप यदि सद्धि करेंगे तो सच्चिदानंद बनेगा सत चित आनंद हाँ। यदि आप एक एक को अलग अलग करके जप करें जैसे ओम बोला ओम सत ईश्वर आप विनाश रहित है ओम चित आप चेतन हैं ज्ञानी है विद्वान है ओम आनंद है आप सुख स्वरूप है एक एक शब्द को कर सकते हैं अथवा तीनों को इकट्ठा मिला दे तो आनंद बन जाएगा अब हम इसका प्रयोग करेंगे जप के रूप में मानसिक कर सकते हैं गा के कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं तीनों में कोई बाधा नहीं ध्यान दो नवीन साधकों को आंख बंद करने में सुविधा रहती है नहीं तो इधर उधर देखने की बातें आती हैं सांस ले लीजिए मधुर ध्वनि से धैर्य से बोलिए ओ आनंद है रुक गए हम ध्यान देना रुक करके अर्थ किया साथ साथ नहीं कर पाते इतना अभ्यास हमारा नहीं हो साथ साथ उच्चारण भी करें और अर्थ भी करें या इतना अभ्यास न हो तो रुक के अर्थ करो ओम सच्चिदानंद हमने बोला फिर ईश्वर को संबोधित किया हे ईश्वर आप सत्य आनंद है फिर पाठ किया फिर संबोधित किया जैसे एक पुत्र पिता को संबोधित करता है एक बालक शिष्य गुरु को संबोधित करता है यही व्यवहार होता है उनका साधक का और ईश्वर का यही व्यवहार होता है परस्पर ध्यान रखने की बात यह होती है साधक साधी का स्त्री और पुरुष हो उसका आकर्षण राग यदि संसार की चीजों में हो तो फिर यह उपासना नहीं रहती समझ माया उपासना नहीं रहती अति प्रेम जो है ईश्वर को पाने के लिए तल्लीन अत्यंत लालायित व्यक्ति है ईश्वर को शब्द प्रमाण से सर्वदा मानता है अभी ईश्वर दिखाई नहीं देता समझ रखना अनुमान प्रमाण से ईश्वर को जानना एक शब्द प्रमाण से ईश्वर को जानना दो और समाधि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को जानना क्या समझ में आया अनुमान प्रमाण से ईश्वर को जानना एक शब्द प्रमाण से ईश्वर को जानना दो और प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को जानना हम अनुमान से जानेंगे शब्द प्रमाण से जाने फिर प्रत्यक्ष पर पहुंचते हैं अब देखिए दूसरा भाग है ये अब ओम सच्चिदानंद कैसा वाक्य है ये स्तुति वाक्य है स्तुति है ईश्वर की और आपको दिखता है ओ असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतंगमय ये प्रार्थना है विधि आनी चाहिए स्तुति गुणों का गायन कीर्तन हमने अब बोला अब हम प्रार्थना करेंगे स्तुति एक प्रार्थना दो उपासना तीन तीन भाग बने रहते हैं अब इसके इन शब्दों का अर्थ प्रचलित है प्राय प्रसिद्ध भी है ओम ईश्वर का मुख्य नाम है असत कहते हैं झूठ को बुराई को अनृत को असत बोलते और माँ कहते हैं मुझे माँ का अर्थ है यहां पर यहां माँ का अर्थ मां नहीं है जनने वाली मां नहीं है यहां माँ कहते मुझे मुझको असतो माँ सदगमय हे ईश्वर मुझे असत्य से हटा के सत्य की ओर ले चलो तमसो माँ रेगमय अज्ञान अविद्या से हटा के मुझे ज्ञान की ओर ले चलो मृत्यु और माँ अमृतंगमय मृत्यु वाली दुखों से हटा के मुझे मोक्ष की ओर ले चलो तीन वाक्य हैं अर्थ जान लिया हमने फिर इनका जप करते अब इनका प्रयोग करेंगे हम एक धुन के रूप में बोलना भी तो सीखना पड़ता है विद्या बिना सीखे कोई आती नहीं बोलना भी सीखने से आता है इसको आप बिना गाय मन में ही कर सकते बोल के भी कर सकते सीधी सादी भाषा में ठीक सरल शब्दों में आप बैठेंगे ओ असतो मां सदगमय हे सर्वरक्षकेश्वर असत्य से हटा के मुझे सत्य की ओर ले चलो ये ईश्वर की प्रार्थना बोल के की जा रही है अब मन में मन में भी ऐसे ही उच्चारण होगा ऐसे ही अर्थ भी वैसा ही करेंगे मानसिक वाचनिक और गाते तीनों प्रकार में कर بس يا عنصر